रूप में कैसे लगाएंगे वो मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हमारे सामने ऑप्शन आ जाता है आपको देखिए यहाँ पे रेडीमेड एप्स के ऑप्शन पर क्लिक करना तो देखिए आपको यहाँ पे कोई भी वैसा ऑप्शन नहीं प्रोवाइड कराया है जिससे कि आप आसानी से रिंग सेट कर सकते हैं तो मैं आज जो आपको तरीका सिखाने वाला हूँ उससे आसान तरीका से आप रिंग सेट कर सकते हैं आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए चलिए हम शुरू करते हैं आपको हम कुछ स्टेप बताएंगे उस स्टेप से आप आसानी से रिंग सेट कर सकते हैं बेसिक बेसिकली मैं आपको दो तरीका सिखाऊंगा ये दोनों तरीका आसान है आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में आना है और यहाँ पर एक एप्स को आपको डाउनलोड कर लेना है मैं यहाँ पर देखिए एक एप्स को डाउनलोड करता हूँ और मैं इस ऐप्स को कई दिनों से यूज कर रहा हूँ करीबन तीन सालों से यूज कर रहा हूँ यहाँ पे आपको सर्च करना प्लेट्स मैं चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ प्लेट्स ऐप्स ठीक है अब जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ जैसे ही प्लेट लिखेंगे यहाँ आपको सर्च कर देना है जैसे आप सर्च कर देंगे देखिए आपके सामने यहाँ पर एप्स आ जाएगा प्लेट्स ठीक है आपको इस एप्स को डाउनलोड कर लेना है taps to third party application